बताया कि बड़ा आश्चर्य के ऊपर ऐसे क्या होगा ये कुछ और जरूरी बात अरे हाँ और जो सब कुछ पीछे तो कौन जरूरी बात सड़क बनी हुआ बिस्तर पर होगा सड़क दिख रही है इससे बोला पड़ेगा अगर देवा उनको लड़की हाँ कुछ कह रहा शास्त्र ठीक है परंतु तो कुछ पशु तो ठप लेकिन निषेध कर्म ही नहीं हुआ उनके मौत निकालना पड़ेगा ना वही जानते नहीं ये जन्म नक्षत्र में जाने क्या मूल्य ना देश पड़ता नहीं कोई तारीख कुछ भी पता बोल रहे हैं महाराज हमारा हाथ देके कुंजी करा दो हाँ। ऐसे ही कुछ कुंजी करा दो कुछ बोल नहीं मैं वो करे तो को क्या बोले तो ऐसे हम नहीं करते धंधे जब तक ऐसे पशुओं की कोई खिदमत है जब आपने जन्म का तारीख पता नहीं जन्म के समय का पता नहीं कहाँ पैदा हुआ बिहार में हो गया बिहार में आज

विद्या सा अभी जिसमें कर्म करता इच्छा कर रहा है इन साथ में विद्या के सा कौन सी विद्या अपर ब्रह्म विषया अपर ब्रह्म विषय जो है विद्या में प्रार्थना के सहित अनुष्ठान करता हुआ है जो ये जो की उपासना कहाँ का है इस बात तो जो हम विज्ञान विद्या है सूचक कल्याण किया को लेकर करने वाले के लिए कह रही है वो प्रार्थना कर सकता है केवल कर्मी नहीं केवल उपासक भी नहीं केवल कर्मी का श्रम मार्ग हो जाएगा केवल उपासक भी नहीं होगा ये उसके लिए जो कर्म और उपासना समुच्चय कर गया या उपासना उपासना का समुच्चय कर दिया अव्याकृत और व्याकृत उपासना का समुच्चय कर दिया जा रहा है वो व्यक्ति के लिए सारी बात इसने ज्ञान की उपासन किया अल्पिया मृत्यु के अमृतम तत्र केवल मार्ग अमृततम स्थित है ऐसा करता हुआ था उस मंत्र में जब तो कहा गया तो अमृत को प्राप्त करेगा ब्रह्म वर्ग को प्राप्त अमृत में ब्रह्म करेगा उसको प्राप्त करेगा कह दिए ना तो देवभाव तो को ही प्राप्त कर जाएगा तो कैसे प्राप्त करेगा यहाँ जहाँ कोई उदय जाए तो भी जल जाएगा नगर कहाँ रहता है सूर्यमंडल में रहता है सूर्यमंडल के पंचमे कैसे हम जाके बस में जाएंगे तो उसको आपको अंकुर करना पड़ेगा प्रार्थना करनी पड़ेगी बाबा अपना के तेज को समेट लो ताकि जो हम आ रहे हैं हम अपने घर में जा रहे हैं और हमारी <laughs> जो है अंतिम क्षण आ गए हैं और तुम्हारे द्वार हम पहुंचने वाले हैं इसमें जो है आप अपना सब समेट लो और हमारे यहाँ योग्य रास्ता बना यही प्रार्थना का दो मंत्र यहाँ आ तो तर्जन मार्गे न अमृत यशेष आदित्य यश मंडल पुरुषो यश्चन दक्षिण खंड पुरुष एक सप्तम ब्रह्म उपासित स्वयं प्राप्त है जब अंधकार के प्राप्त होने पर प्राप्त अंधकार प्राप्त तत् यहाँ पर भाष्यकार जो है प्रधान उपनिषद को जोड़ के सत्य शब्द से क्या लेना सत्य अतीता मुखा मुका दिया सत्य क्या है शुद्ध ब्रह्म तो है ना सत्यम ज्ञान अंतम ब्रह्म उसको लेना है क्या उसको तो लेना है नहीं तो यहाँ उस हमने गया पर हिरण्य वर्ग को क्योंकि उसको ढका हुआ है तो मैं अपने हिरण्य में पात्र से ढका तेजो में पात्र ढके हुए तेज ज्ञान रश्मिया रश्मि रूपी तेजो में वस्तु उनके ऊपर अपने आप को ढका हुआ है ये और मुझे शुद्ध ब्रह्म नहीं कर सकता है इसीलिए इसको घटाने के लिए दुर्गण को प्रशब्द को जोड़ दिया सारित्य कौन है वो वो आदित्य स्वयं भगवान ही लेना ब्रह्म गर्भ अपना उपास्य देवता है उपास देवता ब्रह्म गर्भ था और उसका रहने का स्थान आदित्य है तो यह एक मंडल है पुरुषा आदित्य साथ पूरा जो भौतिक चीज दिख रही है सूर्य हो रही इसलिए कहते जो उस मंडल में विद्यमान पुरुष यह मंडल पुरुष जो इस आयुत मंडल में उसका विमानी जो देवता है पुरुष है जिसकी जो है विद्यालय के प्रश्न में उपासना का वर्णन किया और वहां आम खोल के देख कैसे देखूंगा जहां की पूरी आएगा इसे वहां नहीं देखना कहा भी तेरे ये स्वयं दक्षे अक्षी पुरुष उसका ध्यान यहाँ कम हो गया तो वो यहाँ कहाँ से आ गया बात हो गया तेज के माध्यम से वो यहाँ आ गया अपने रश्मियों के द्वारा वह हमारे चक्षु से अधेर को प्राप्त कर रहा है और हमारे चक्षुर इंद्री के माध्यम से भी उसको देख करके अधेर को प्राप्त इसीलिए वह जो आयुक्त मंडल पुरुष है वही इस दक्षिणाक्षी में विद्यमान उपन अभिमान देगा चाहिए एक विभयम सत्यम यही तो अभिन्न अभिनय विवासौ असौ अस्मा हम अपनी बोलेंगे ना जो बोल रहा है वही मैं हूँ ऐसे उपासना मैंने किया है इसलिए आपको गेट खोलना पड़ेगा ऐसे नहीं नहीं बोलोगे हम आपकी उपासना किए हैं आपकी पूजा किए हैं आपको जब दिन भर रात भर जिंदगी भर आपके पीछे लगा दिया और आप गेट बंद रखोगे तो कैसे चलेगा तो कल्याण करो बोलेगा आदमी ऐसे उपासना किए हैं जिसमें हम सबको भरना है इसमें हमको आपका बिहार न सकेंगे उपासना यथोक्त कर्म कृत्य इस प्रकार से वह अपर परम हिरण्य गर्भ रूपा ब्रह्म को उपासना करने वाला और कर्म कृत्य कर्म वेद में जो कर्म है उनका भी मैंने अग्निहोत्र आदि भी सारी तथैव करोती चेतन कर्म कर अग्निहोत्र को यथा विधि मैं किया हूँ कर्म भी किया हूँ उपासना भी किया हूँ यह ऐसा जो साधक है मुमुक्षु है सो वह व्यक्ति अंत काल प्राप्ति मरण काल प्राप्त होने पर इस हिरण्य पाचन का मंत्र का जाप करेगा सत्यात्मान आत्म प्रादुर्वायम याचते सत्यात्मात्मन स्वस्य सत्यात्म प्राप्ति द्वारा अपना की अभेद की उपासना हुई है अंदर उपासना है जो आप वैसा नहीं हो जो आदित्य मंडल को वही दक्षिणाक्षी पुरुष है जो दक्षिणाक्षी पुरुष है वही मैं हूं ऐसे तीनों का अभेद हम एक शरीराभिमानी पुरुष है आयत मंडलात्मा वाले पुरुष है उभय और सहायक बनकर के दोनों के दोनों का चक्षु के माध्यम से रुद्र ग्रहण में सहायक बन करके चक्षु का अभिमानी देवता बना हुआ था सूर्य चक्षु सूर्य अजान तो इसके संबंध इसलिए उसके घर हमने अहंग उपासना किया है अवेद उपासना किया है इसलिए मैं भी सत्यात्मा हूँ केवल आप ही नहीं अधिक जब उपासना हो गया ये हो जाएगी तो आप हिरण्य कर दिया मैं भी हिरण्य कर रही हूँ ये मेरे को भी गद्दी पर रखने का अधिकार है इसमें गेट तो खुला ही है बुद्धि में इसलिए स्वयं दक्षिणा स्वयं को अधिकार हम आत्मा प्राप्ति द्वारा हम याचते मेरे पास इसी प्राप्ति द्वार की याचना प्रार्थना करता है मांग नहीं रहा है अरे कहेंगे हमको भी तो नहीं मांग रहे हाँ हम अधिकारी बन के एकदम भौसल्य कर दूर पर ऐसे नहीं तो दूर विराम और बुद्धि अपना सुना बहुत में आ गया अंदरों अम्रोपासना योजना है अब वो आश्रम में आ गया बात बड़ा मास्टर मान हो जाएगा तो गजब ब्रह्म तो साधु सीधा पूछा गुरु जो भाई तुमको कुछ मंदिर लग रहा है बड़ा मन जाएंगे तो ब्रह्म से ही पता है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म बोलते रहता कुछ होता है जैसे कंटेन को क्या दिखाई देता है कुछ तो नहीं रहा हमें चलो ब्रह्म नहीं दिखाई देगा कुछ तो आता तो जहाँ मेरे घर में बहुत प्यारी बस वही दिखाई देगा कुछ हाँ, कोई बात की हम वही सब गलत सब हम बना अपने बोले हम भावन का ब्रह्मा अपनी हम बोल हम भी बोल दिया अपनी तो बैंक ब्राह्मण अगर इसके बाद हुआ नहीं बाहर गुरु जी गए कि भाई महाराजा खाना पीना छोड़ दिया बताता भी नहीं कहते महाराज आऊंगा तो गुरुदेव आप नौकरी हो जाएगी मैं गुरु संपत्ति को बर्बाद नहीं करना चाहता हमारी मान चुनती क्यों गुरु पहले मैं इतने बड़े बड़े फूल हो गए हैं और फिर हमको तो वही के बाहर दे <laughs> ये समझ गए ये भय बन गया है कैसे अच्छा बेटा ऐसा तो ना और भय और हम ब्रह्मा से बोला ये सही हो जाएगा अच्छा करो जी घास नहीं खिलाएंगे तुमको थाली में मिलेगा और घास में खा के पैसा खाओ मैंने भावना भाई मन की वृत्ति बन भाई घास में खा चलिए आदमी का ही था तेरा रोटी उसको दे दे ये उसकी है भैंसे ब्रह्मा से हम तुल्य अनुभव का है अपने का देख तो जितने मानेंगे अपने करते हैं छठी उपहार खेती करते हैं मेरा अपने कलमयम हुआ कलमयम इनमें क्या सोने का कोई ढक्कना नहीं लगा रखा सोने का दरवाजा ऐसा कोई दरवाजा बनावा नहीं है हाँ जिसे भी ज्योतिर्मय रश्मि में तेजो में तेन पात्रेण अपिधान उस पार द्वारा अभिधान के समान ढक्कन आयुक्त रस्ते पर सब अति हो गया आयुक्त मंदिर में सीधा उस विजय वही है आशा भूत अच्छा क्या कहते हैं चेहरा बन गया मुखम उसका गई नहीं यहाँ मुखम कर रहा हूँ उसके पास पहुंचने का मार्ग के कारण भी हम उसके पास पहुंच नहीं पाते तो उस द्वार को अर्थात खोलो अथवा कैसे खोलेगा रश्मि व्यूह समूह ये समूह अपार अपसार उसको आप हटाइए अर्थात इस तेजो मंडल को हटाया गया हटाया गंगा हो जाएगा फिर जैसे रात्रि के समय आप अपने आप में समेत लोग समस्या को रात्रि हो जाती है उसी प्रकार से आप हमारे मृत्यु हो रहा है शिक्षण क्षण अपने तेज को आप अपने अपने तेज संहारो आप आप अपने तेज संहारो आप हम्म? वही यहाँ पर कुछ आप अपने तेज को संभालिए और ताकि हम आपके हम सकते हम भी लगे सभी हमारा तवा सत्य उपासना मैं है सत्यधर्म क्यों क्योंकि मैं आप जो सत्य है आपका ही मैंने उपासना किया है सदा सत्य से उपासना सत्य धर्म सत्य ही है अब मेरा धर्म है धर्मी का स्वरूप क्या होता है धर्म ही उसका धर्मी का स्वरूप है इसलिए कहते सत्य ही है मेरा स्वरूप तो मैं उसी का ध्यान करते करते करते ये जो धंधाकार हो गया मैं सत्याकार धर्म वर्गाकार को प्राप्त से मना स्वयं सत धर्मा ऐसा जो मैं हूँ उसने तो मेरा नाम अब क्या कर गया जो भी रहा होगा मैं पहले चाहे हम्म? जीवनक रहा चाहे दिवगत रहा जीवित रहा जो भी दुनिया कहा करता था लेकिन अब उपासना करते करते करते करते इस मौन काल में मेरा नाम क्या हुआ है मेरा स्वरूप और नाम सब सत्य धर्मा हो गया तस्वीर मैं ऐसा कुछ के लिए अथवा अच्छा ऐसा इसका भी अर्थ सकता दूसरा अर्थ करते यथाभूत धर्म से अनुष्ठा जो वस्तु जैसा है उसमें मैंने वैसी उपासना किया उसमें हेरा फेरी नहीं किया यथाभूत वस्तु का धर्म का मैं अनुष्ठान करने वाला हूँ इसलिए मेरे लिए दृष्टि सत्यात्म उपलब्ध आप सत्य स्वरूप का उपलब्धि के लिए प्राप्ति के लिए अनुभूति के लिए आप अपना समस्त रश्मियों को सीख लें अर्थात द्वार को खोलिए जो अपने आप को मय रश्मियों से ढके हुए हो इनको दूर कर लो इसी को उन्होंने बहुत सुंदर कहा है हमारे कहा चाहिए छिन्न दृष्टि छिन्न कर और बायम सूर्य ग्रहण घनचन्न दृष्टि घन मार्कम मर्कम यथानिष्प्रभम मनते छात्र जो अति मूल है वो सोचे क्या मैं अंधा हो गया इसे मुझे कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि तो अंधा नहीं रहा बादल भर बिना सूर्य अंधकार को प्राप्त हो रहा है वहां बादल ने सूर्य को रख है अर्थात हमारे और सूर्य के पीछे बादल है अज्ञान है और कुछ मेरा अपना वास्तविक जो स्वरूप दृष्टि से है में तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है वृष्टि नहीं मैं अपने आप को जीव मान रहा हूँ वो भी निकृष्ट जीव हूँ और समष्टि में उत्कृष्ट जीव नहीं बराबर इस बात को मैं नहीं जानता लेकिन उल्टा कौन मानता है अति घन छिन्न दृष्टि व्यक्षमर्तन यथा निष्प्रभम मन्यपेक्षा तथा बद्ध भाव मूल दृष्टे समुद्र उपलब्धि स्वरूप तथा बद्धवत भाति ठीक उसी प्रकार बंधन में पड़े के समान हमारे को भान हो रहा है हम बंधन में कभी पड़े ही नहीं वास्तव तथा बद्धवत भावी निष्ठे सानित्योपलब्धि वास्तव में भक्का हुआ कुछ होता नहीं अज्ञान ही वहां भक्ता है और अज्ञान का निवृत्ति है जितनी भी वो पुरुष में काम करती जाएंगे आप उतनी उतनी होती अज्ञान निवृत्त होती और कुछ नहीं तो आवरण निवृत्ति से सब तो एक तरह को और सुदृढ़ करता है

अर्थात निरंतर बने बने एक क्षण बोले ही उसको श्री विश्राम नाम श्री एक क्षण निरंतर चले तो कह रहे अपने पहाड़ का चलना और फिर उन्हें गुरु गुरु अगर आइए पहाड़ साढ़े साथ चलना पहाड़ तो हम लोग आगे पड़ जाएंगे तो फिर भी वो जो अवसर की अगर उदास प्रभाव के माध्यम से हम लोग सारे प्रबंध करने इसलिए इस प्रबंधन नदी नियम नियम करता है कि नियम को छोड़ दिया ये हमारे बड़े सूर्य मैं उस भाषण में तरह सूर्य बोल हे सूर्य रस का पोषण करना हे प्रजापति आज जब प्रजा समस्त जीव की प्रजा का पति है पालन करने वाले आज रक्षक की पति हाँ। विदमया रश्मि अपने रश्मियों को हाँ, विदमन कर अलग कर दो संयोगान समेत लो एकीकरण और समेत लो बिखेरो मत जो तुम्हारा तेज है उस उत्तम कल्याण तो तेज क्या है कल्याण तुम उस कल्याण में जो है रात कर राहत कर देगा जो यूनी यूनी पाठ समूह नहीं है ये व्यापन और तेज है तो सबको जला देता है सुखा देता है सभी लोग राख बना दे जहाँ का तेज है सब जला ही देता है बिल्कुल खत्म तेज तो है ये जितने दूर है कोई बदल है जितना शरीर भी जिंदा ना ये शरीर को रह सकता है फिर वो भारत जी आनंद जी है वहां भी जी है वहां बहुत सारे जीव पड़े हैं लेकिन शरीर उस रूप ये बात पहले मानते नहीं थे वैज्ञानिक लोग मानने लगे हमने कहा बढ़िया शहरों में कई अत्यंत समृद्ध शहर है परिश्रम के मामले लेकिन खतरे में वह नीचे उसका लावा थी कई भी वो फंस करके बाहर नहीं तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कैसे में क्या और उन्हें पता जो रिपोर्ट का प्रोग्राम की कितने के में प्रसारित तरह से जानकारी दी है उसको किया अभी जाकर ये घूमेगा और कितने वर्षों के बाद ये शहर समुद्र में डूब जाएगा किसी कर्म के उन्होंने जो है जल आयातान तक देरी और वहां से उन्होंने गर्म लोहा को वर्ड में अस्पताल की स्क्रीन बुद्धि क्या है भाई इतनी जो दो क्षण में जीव हो गई हम लोगों की जो तकलीफ होता है किस तरह से दूरी होता है ग्रह है तो ये राहत खराब इसी चाहिए घोड़े को चाहिए यहाँ पचास दिख रहा है तो पांच लोग घोड़ा मर रहे हैं फटना कर पचास की गिरफ्त पहुंच आप बाहर गए नौ सौ डिग्री इंटीग्रेट नौ सौ डिग्री की टेम्परेचर और उनकी दिमाग अलग आप ये देखते हैं तो आगे भी अब नहीं हर जगह का जीवन अपना अपना हिसाब किताब है वो इस टेम्परेचर के लाल शरीर आप भगवान ने बना रखा प्रजापति मंडल में जो है अरे हमारी नाम को तो हमें उन ग्रह में जाने के बावजूद भी प्राण घूमता और जीव का हम लोग को देख लगती है तो वहां जीव जुड़े तो अब उन्हें निष्कर्ष किया कि जैसे पृथ्वी पर जीव है यहां बिल्कुल तो शरीर वाला जीव जैसा है ऐसे प्रत्येक विधा प्रत्येक शत प्रत्येक तारा में सभी जगह आत्मा है सभी मतलब पूरे शरीर नाम ग्रहण अनुमान तीन महीने पहले का प्रेम उत्तेजक व्यंजन आता है किसमें दिए हार मान लिया कि भूमि कितना ढकना तो पड़ेगा कृष्ण को आनना पड़ेगा जिन्हा बैठे हुए वह दिव्य शक्ति मेरे पास धीरे धीरे नाटी में ले क्या कि मेरे कल्याण का रूप है उसको मैं देखना चाहते चाहता क्यों देखना चाहते हो कि यो असु पुरुष सो हम जिन्होंने अन्य पुरुष को ही मैंने मेरे उपासना किया है इसलिए मैं देखना चाहता मैंने गुरु जी संकल्प कर दिया ऐसा संकल्प होना चाहिए देख करके मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ जो समस्त माता है ऐसे संकल्प करो कि ये छोटी मोटी संकल्प क्या कर रहे हो तुम धीरे धीरे कुछ करोगे यही करोगे कोई चीज बनोगी तुम नहीं वहां जाकर मृत्यु हो रही हम हो जाएगा अरे रोगा धीरे कोई भरोसा मुक्ति का कोई व्यक्ति नहीं होता है वहां जाकर आप मुक्ति कही वहां के ईश्वर का भोजन विचर करके पहुंचे हो वहां उधर ब्रह्मलोक की भी आनंद मत अंतर नहीं होना चाहिए तो जो ये करना है इस अगर उपासना है उसके बाद ध्रुव विद्या तो प्राप्त किया नहीं तो इसलिए अर्थक प्रार्थना करता तो मैं आपको कल्याण समिति होने करूंगा उसको मैं दिखाता हूँ कि मैं आपके साथ में रूप में उपासना किया हूँ हम लोग उपासना जगत पोषणा पूषा जगत पोषण करता प्राप्त संग आदित्य मगस्तु जाय के दृष्टि दृष्टि नीचे के लिए अग्नि से अग्नि में डाला हुआ जो है उस समय प्रकार से आदित्य मगस्तु आदित्य को प्राप्त फिर वो आदित्य से सारा जल धरती पर जल को अक्षर बनाकर वास्तव वाष्पायित करके ग्रहण कर लेता है बालक रूप उसको प्रदान करके फिर बढ़ता है वर्षा करने से हम होता है फल करके हम होता है उसके रंगन सत्य हाँ, स्मृति भाषा में कहा जगत पोषण पोषण पोषण करने वाला होने से उसका नाम सुना तथा एक एवं ऋषि गच्छी कर ते अंतर चलेगी एकर्षी ते निरंतर क्या निरंतर अव्यवधारेण आंतरिक क्रिया आंतरिक क्रिया है इसका निरंतर क्रिया है इसका तथा सर्वस्व संयमना सभी का संयम वाला होने से इसका नाम एक भी है योग संयम जन्म प्रमाण है आपका प्रश्नोपनिषद अतः आदित्योलिंग प्राचीन दिशा प्रविशति दिशतुपन में प्राचीन प्राणाम रश्मि से युक्त दक्षिणा वर्चित आपके द्वारा नियत लोकाना सर्ववारण गति अहोरात्र जो काल विभाग है वो तो सूर्य गति ग्रही नहीं तथा वो सूर्यास्त और सूर्योदय के अधीन होकर के दिन रात होता है उसके माध्यम से वो हमारे सारे क्रिया कला व्यवहार को नियंत्रण कर नियमन कर अग्रह और अग्नि के होता तथा रश्मि नाम प्राणानाम रसाणाम के स्वीकरणार्थ रश्मियों के प्राणों का और रसों का स्वीकार करने से उसका नाम सूर्य है प्राण से कैसे स्वीकार कर लेता है आकर के ले जाते हैं यहाँ से कहते नहीं अपने रश्मियों के द्वारा रश्मियों के द्वारा उसको ग्रहण करने के समान कर रसम को भी इसी प्रकार हर चीज को सुखा देता है उसके बाद रस को वो खेच लेता है अन्य रश्मियों के द्वारा ही ऐसे कुछ होता है हाँ, इसमें रश्मि तो भी ताराम रथानाम के स्वीकरण उसमें प्रमाण करके प्राचीन दिशम प्रविशति आदित्य उदय होते हुए पूर्व दिशा में प्रवेश किया प्रवेश करके वहां क्या किया पार्श प्रवेश के द्वारा पाचान प्राणाम पक्ष दिशा निवृत्त समस्त प्राणाम को रश्मि रश्मि में लपेट लेता है रश्मि में लपेट है देखो जीवन क्या है आप उधर वो आता नहीं आपके ये खोल कर ये खोल श्वास आप लाभ कैसे कीजिए आप ये बस वैसा ही परेशानी होगा वो कि स्वास्थ्य ताकत के सामने ठीक तो ऐसा लक्षण अजगर की कहानी आता है उत्तर के उत्तर का शिक्षण राज्य की दिखा में था तो क्या करता था उसके इतना विशाल गुफा में मिली गुफा को लोग कवर गुफा के द्वार को कवर करता गाय वगैरह

जमाने भी होता है तो हैं ऐसे करते हुए तो ग्रहण क्या वो आता है नहीं पकड़ता है नहीं बुद्ध से श्वास उसने छोड़ा और श्वास के बाद खेच लिया इसी प्रकार यहाँ सुन के रश्मियों को छोड़ देते हैं रश्मि के मन सर्वस्थ रश्मि रश्मि करना नहीं रखेल प्राचीन का नाम रश्मि छोड़ो इसी प्रकार दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा निरंतर नीचे था यह सूर्य इससे संबंधित हुआ प्रजापति की प्राजापत्य प्रजापति का जो आपत्ति होता है उसको प्राजापति अकस्मात प्रजा कामो वही प्रजापति तपस्ता मिथुनम उदका पांच आदित्य हो वही प्राण हो प्रश्न पूछा अकस्मात प्रजा काम हो वही मिथुनम उदक प्रजा की कामना वाला वह प्रजापति ने तप किया मिथुन खुद आ गया उसने मिथुन को पैदा पूछा वही तो है वो मिथुन आदित्य है वही प्राण प्राण कौन है इसलिए प्राजापत्ति कौन हुआ प्रजापति का संतान आदित्य हो गया जिसमें हुए आदि से राजा को विकम आया धातु तो आत्मे पर ही है और आपने उस पर दिया पुरुषनी को भी स्वान रश्मि विधम अपने रश्मि को हटाओ तो भाष्यकार नीचे टिप्पण कर करते वह उपसर्ग का योग से यहाँ पर अर्थांतर जो होकर के प्रसिद्ध और एक नीति दिया है वाच्यम अशुक्षेप जातु और दीप सर्वभूमि जातु इन दोनों को आत्र पद के स्थान पर विकल्प से परसम पद विधान विवाह करने किया है यह विगमय रश्मि इंसान हरि विगमय हटा दो हटा दे हटा के कहा ले जाए कहा हटा दे दो में रख लो हटा के हटा के कोई चीज को उठा करके जेब में रख सकते हैं ना लकड़ी बांध दो उसको तारीख तारीख को भिन्न बांध और ब्रह्मा गुरु फर्क रखें लेकिन यहाँ ऐसे संभव नहीं है इसलिए होगा समेट के जरूर कर तो क्या करूंगी हटाने का मतलब क्या होगा अरे समूह एक ही करो ये जब पहला व्यक्ति छोड़ो अपने अंदर समेट लो हमारा तेजस ताप ज्योति ही अगर जो तापक ज्योति है उसको आप संहार करो हम कल्याण बन गए तो मुझे देखिए यदरूपम कल्याणतम अत्यशोभम जो आपका दूसरा रूप है ये तो भयंकर रूप है पापक रूप है ये पापक रूप को तो समझ लो और जो दूसरा रूप है आपका कौन सा कल्याणतम है अतिशोभनीय जो रूप है तत्व तो आत्मा प्रसादात आपकी कृपा से मैं उसको देखना चाहता हूँ बहुत हर प्रसादात पश्यानी पश्यानी पश्यानी होना चाहिए देखना चाहूंगा क्योंकि अभी तो लोग होना चाहता है ना हाँ? शरीर भी यथार्थ में लोग के हो तो रहा है तो ये पश्चान वो शुद्ध नहीं बना हुआ काट में नहीं लिख दिया उसकी टिप्पण कर नीचे टिप्पणी पश्चानी फिर भी मंत्र में पश्चानी है ना मंत्र को थोड़ी अंदर मिल सकते हैं वो तो वेद है पाठ गए उनके बच्चे बोलम लकार बदल गया लोट को लट में अंतर वेद ने तो हमें समझना पड़ेगा ये लोट है आत्मा पूर्ण इसलिए वहां नहीं चेंज करना बदलना नहीं मूल तो बड़ी बदल रही है नीचे पीपल का इसमें समझा दिया लेकिन भाषाकार को भी कह रहे थे कह सकते थे पश्चान क्या कहा भाषा नहीं कहा पीपल का किंच हम मधु त्वाम भृत्य विभाजे हरित रहे महाराज हिमत समझिए हम आपको भीख मंगाए तो भीख मांगे रहे आपसे ये नहीं मुझे भी भीख मांगेंगे यह क्योंकि यह अगर आदित्य स्तर पुरुष पुरुषाधारता पूर्णम व अनिन्न अर्थवादी प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्त पुरुष पुरुषेन पुरुष स्वहमस्तु भवानी असौ आयुक्त मंडलस्थ आयुक्त मंडलस्थ पुरुषण कद व्याहृति अवयव व्याहृति अवयव नीचे टिप्पण है उसमें परिषद को दिया है प्रधान प्रसिद्ध मंत्र को यह ये चेत संबंध पुरुषा तस्य भूरिति शिरा एक शिरा एकम एक अक्षरम ध्रुव बाहु द्वे बाहु द्वे अक्षरे सूर्य प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे के अक्षरे मैंने सागर सीधा है हमारा भी विधेयक है है ना भू भी अक्षर एक सूर्य एक है इसे पारदर्शिता हो गया हमारे दो में बाहू है इधर भुवन दो अक्षर और आदि क्या दो प्रकार की रश्मिया एक कल्याणतम रश्मि एक में अकल्याणतम पापक रश्मि दो प्रकार का स्वरूप है वही सिद्ध बाहू है हमारे स्थिर होने के लिए दो प्रकार की अपेक्षा होती है उस परमात्मा वहां पर सुधा उसमें क्या है दो अक्षर गुरु प्रतिष्ठे गुरु अक्षर उसी प्रकार से उस सूर्य को भी होने के लिए दो की अपेक्षा है एक दिवलोक और एक गुलोक दोनों का आधार बीच में करके सुस्थापित स्थापित हुए रूप में एक दूसरी प्रतिष्ठा स्थान दो है हमारी प्रतिष्ठा स्थान दो है तीन प्रतिष्ठा को लेकर पुरुषाकार के सदस्य पुरुषाकार है तो एक से दो बाहु दो पै पुरुष सामान्य आकार है उसी प्रकार सूर्यता भी एक से दो बाहु दो पर पुरुष मांग होने के कारण से अधिकार किया गया पुरुष पुरुषाकार आकार की बुनियादी परिषद में यह बात स्पष्ट है अगला विचार पूर्ण अन्य पूर्ण है जिसके द्वारा किसके द्वारा प्राण बुद्धात्मा पूर्ण प्राण और बुद्धि ये क्रिया और ज्ञान रूप से वो हिरण्य गर्भ भाई इन सकल पुरुषों में हुआ समष्टि के बिना व्यक्ति क्या होगा समष्टि में विद्यमान क्रिया उनके प्राण और ज्ञान रूप बुद्धि के माध्यम से सारी वस्तुओं का क्रिया और ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है इसलिए अधूर प्राण की आत्मा पूर्ण हुआ जगत से समस्त नीति पुरुष दूसरा पूरी निषेणा हुआ पुरुष तो पूरी तीन पुण्या है सुशरी सुशरी और कारण ये तो शरीर त्रय के अंदर वाप सहन करने कारण से अज्ञान युक्त होकर युक्त होकर सोया हुआ जगा हुआ नहीं है इसलिए ही इसका नाम पुरुष है ये मत कर दिया है स्वयं अस्मी वही पुरुष मैं हूँ ऐसे मैंने उपासना किया है अतिव मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ अतः मेरा अधिकार है और अधिकृत अधिकार को प्राप्त करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रार्थना करता हूँ भस्मागम शरीरम गगम स्मर गगम स्मर गगम स्मर गगम स्मर हरता साधक उपासक प्रार्थना कर रहा है वायु हो मेरे मरते हुए शरीर का जो वायु मेरे प्राण है अध्यात्म वायु है श्रीयत प्राण ये जो है अनिलम ये क्या हो कभी आपने इस शरीर को त्याग करके इस परिच्छेद को त्याग करके अधिदेवत रूप का जो सर्वात्मक है सर्वग्रयापक जो अनिल है उसको प्राप्त हो गई तो अनिल क्या है कहे अमृतम ये सूत्रात्मा ये अमृत लेना है सूत्रात्मा तो सूत्रात्म भाव को प्राप्त हो गए प्रतिबद्धता हमें हाँ, से ग्रहण करना पड़ेगा ये जो वृष्टि वायु है शुद्ध आत्मा जो समष्टि वायु है तो समष्टि वायु में भी हो जाए अथा नहीं दानी अथा इधानी वायु अनिल अमृतम प्रति यह जो शरीरस्थ मरता हुआ शरीरस्थ जो वायु है प्राण है वह अनुराम सूत्र आत्मभाव को प्राप्त हो जा जाए इदम जो शरीरम और यह जो शरीर है ये शरीर यह क्या हो भस्मांत भस्मांत परिणाम सब भस्मांत मैंने जो है जल का व्याप हो जा जाए ओम कृदे स्मरा लोमो दूसरा दिया पीछे शब्द का प्रवर्त करेंगे पहला तो कहने में मन संकल्प तक मन जो कुछ भी तुमने आज तक किया है बाल्यपन से लेकर अभी तक उन सभी को तुम स्मरण करो स्मरा मैंने उपासना और कर्म से संस्कृत होकर किया हुआ सारी चीजों को तुम स्मरण करो और दूसरा कृत ये अग्नि जिनने में कर्म और उपासना जिस अग्नि के साक्षित्व में किया है वह अग्नि से निवेदन करते हैं कि तुम भी जो है मेरे संकल्प द्वारा किया गया कर्म और उपासना उनको स्मरण करो और अग्नि ही उसको लेकर लग है इधर दोनों को अगला कर राजकार कहते हैं गिरावृत्ति जो किया है आदरा विरावृत्ति जो है आदर के लिए पूज्यता को प्रकट करने के लिए वो जो याचना है वह याचना जो है कोई निकृष्ट याचना नहीं है ना जैसे पूर्व में आया था वो जो याचना है निकृष्ट नहीं उनके जो है यहाँ पर जो मैं किया हूँ वो सत्य कहना उस हिरण्य में की मैंने उपासना किया है इसलिए मुझे हिरण्य को प्राप्त होना है मैं भीख नहीं मांग रहा हूं उपासना द्वारा अधिकारित्व प्राप्त उस पद पर उस पद के अधिकारित्व प्राप्त है अब तो मुझे मिलना ही चाहिए अजय भीख नहीं है यहाँ अतः तो आदरपूर्वक प्रार्थना मार्ग की याचना होने के बावजूद ये अनादरपूर्वक याचना नहीं है आदरपूर्वक याचना है इस बात को प्रकट करने के लिए गिरावृत्ति किया गया है ऐसे भाषिकार अथा पहले आत्म शब्द लिए अध्ययनम है अमृतम अध्ययनम अभाव है इधानी आरंभ मम मनुष्यता वायु ममा मनुष्यता ऊपर से अध्ययन करना वायु अनिल हो गए वायु जो है अमृत अनिल हो गए कौन सा वायु क्या है अमृत अनिल उसको स्पष्ट करते हैं मुझ मरते हुए इस शरीर से मेरी जमान जो वायु मन प्राण अज्ञात परिच्छेद तो वायु है मन प्राण पंचप्राण वे शरीर का परिच्छेद को त्याग करके अज्ञात मन शरीर इस शरीर भी परिच्छेद को त्याग करके वह अनिलम अनुपम सर्वात्मक वायु सर्वात्मक वायु क्या वायु भाव संदर्भ हो ऐसे समर विद्या में जिस विष्णु वायु को आ रहे हैं साक्षात सुप्रात्मा की वायु के ऊपर सभी के अंदर प्राण धारण किया और वृष्टि दान समस्ती प्राण कोई सुप्रात्मा है वो ब्रह्मगर्भ है तो सभी के अंदर विराजमान इस भाव को प्रतिपदान प्राप्त हो गए एक और बात के वाक्य ज्ञापन करा पिता वाक्य जो है एक और चीज को बोल रहा था जीवन अर्थात जो उपलक्षण है किस चीज का ज्ञान कर्म संस्कृत उत्क्रामती ज्ञान और कर्म ज्ञान का उपासना और कर्म से संस्कारित जो मेरा वृष्टि प्राण है वृष्टि न बना रहे किंतु ये सृष्टि को प्राप्त हुए ऐसा हाँ प्रार्थना का ये लिंग परिचायक है उपलक्षण है ये वाक्य ऐसा समझो से कैसे कर दिया कोई मारू आचरण सामर्थ्या मारती आचरण कर रहा है पूर्व मंत्र से ही इसलिए मारती आचना जो है करने का सामर्थ्य यह विशेष अर्थ भी ज्ञापन हो रहा है वास्तव में आता ज्ञान कर लिया मैंने मध्यम को न्याय के समान जी को न्याय इधर भी इधर दोनों तरफ आता शब्द हो रहा है इसे दोबारा भाषिकार ने अर्थ ले है इधम शरीरम मने इधम स्थूलम शरीरम अग्निम अग्नि में कोटाग्नि होत्र कर दिया गया अग्नि में आहुति के रूप में इसे स्थूल दे दिया गया है पूरा डाल दिया गया आहुति रूप में डाल दिया गया यह जो शरीर है क्या होगा भस्मांतम भस्म अंते मैंने अंतिम परिणाम सर्वस्मांत मैंने मतलब भस्मीभूत हो जावे ओम प्रतीकात्मक ये जो सोपासना है ये ओम का प्रतीकात्मक ज्ञानी लोग पास है ना फिर आपने फिर हम भ्रम करके नहीं किया ना अभी हम लोग पास कर रहा है फिर किसकी क्या उस ओम का प्रतीक का हिंदू गति के साथ हम लोग पास ओम के साथ होगा या ओम भोज शुद्ध ब्रह्म के साथ हम लोग पास आने के हम ब्रह्मास्मी ऐसे बात नहीं किया तो उसमें हम हृदय कर हम हृदय आदित्य मंडल पुरुषा फिर हम अस्मी अक्षराक्षरी पुरुष संग्रहण हार गए ऐसी भी उपासना किया है ना हाँ। इसीलिए तो ओम के प्रतीक का उपासना किया साक्षात ओम का उपासना नहीं चित्रकार सुंदर ढंग से समझाए इस बात को ओम खम ब्रह्म की श्रुतिया ओंकार ने खम ब्रह्म की दृष्टि उजाना ओंकार रूपी आलम्बन में खम रूपी ब्रह्म की दृष्टि का विधान जैसे किया है बृहदारण्य परिषद ने ठीक उसी प्रकार से तथा उपासना में सत्य ब्रह्म प्रतीकता उपासना प्रकरण में यही सत्य ब्रह्म है कार्य ब्रह्म यही गर्भ है वो क्या है ओम का प्रतीक सत्यम ब्रह्म प्रतीक का भेद होना एक जिसम को तो सत्य ब्रह्म पूरे प्रतीक होने के बावजूद भी उस प्रतीक के साथ अध्ययन करता हुआ क्या अगर ओम शब्द वाक्य से क्या होगा जन्म निधन होगा आहित वस्तु को आजीव को आधार के साथ अध्ययन करके या ओम कहेंगे हाँ, होना चाहिए क्या सत्यम ओम कृतोस्मरण नहीं सत्यम कृतोस्मरण ऐसा होना चाहिए था लेकिन तो सत्य ब्रह्म जो कार्य ब्रह्म जो आपके रंग है उसको ओम के साथ प्रतीक के साथ आधेर करता हुआ यहाँ वही कह रहे हैं ओम प्रतीक सत्यम ब्रह्म प्रतीक आधेर लेना तभी भी संबोध जीते वही सत्य ब्रह्म पुनः क्या हो गया है अग्नि ब्रह्म कहा एक के अंदर वैश्वानरो देव मंत्र पुरुष इत्यादि श्रुतिया देव मंत्र पुरुष स्पष्ट हुए